जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है उनका शहरों में खुशहाली के साथ चलना फिरना तुम्हें हरगिज धोखे में न डाले